कारण खोज लेते और निश्चिंत हो जाते ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें आदमी शांत न हो सके ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें आदमी प्रेमपूर्ण न हो सके ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें आदमी थोड़ी देर के लिए मौन और शांति में प्रविष्ट न हो सके हर स्थिति में हर परिस्थिति में वो होना चाहे तो बिल्कुल हो सकता है यूनान में एक वजीर को उसके सम्राट ने फांसी की सजा दे दी थी सुबह तक सब ठीक था दोपहर वजीर के घर सिपाही आए और उन्होंने घर को चारों तरफ से घेर लिया और वजीर को भीतर जाके खबर दी कि आप कैद कर लिए गए हैं और सम्राट की आज्ञा है कि आज संध्या आपको फांसी दे दी जाएगी छह बजे वजीर के घर उसके मित्र आए हुए थे एक बड़े भोजन का आयोजन था वजीर का जन्मदिन था वो एक बड़े संगीतज्ञ को बुलाया गया था वो अभी अभी अपनी वीणा लेके हाजिर हुआ था अब उसका संगीत शुरू होने को था संगीत तक के हाथ ढीले पड़ गए वीणा उसने एक और टिका दी मित्र उदास हो गए पत्नी रोने लगी लेकिन उस वजीर ने कहा छह बजने में अभी बहुत देर है तब तक गीत पूरा हो जाएगा तब तक भोज भी पूरा हो जाएगा राजा की बड़ी कृपा है कि छह बजे तक कम से कम उसने फांसी नहीं दी लेकिन वीणा बंद क्यों हो गई भोज बंद क्यों हो गया मित्र उदास क्यों हो गए हैं छह बजने में भी बहुत देर है छह बजे तक कुछ भी बंद करने की कोई जरूरत नहीं लेकिन मित्र कहने लगे हम भोजन कैसे करें संगीतज्ञ कहने लगा मैं वीणा कैसे बजाऊं परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं रही वो आदमी हंसने लगा जिसको फांसी होने को थी उसने कहा इससे अनुकूल परिस्थिति और क्या होगी छह बजे मैं मर जाऊंगा क्या ये उचित न होगा कि उसके पहले मैं संगीत सुनू क्या ये उचित न होगा कि उसके पहले मैं अपने मित्रों से हंस लू बोल लू मिल लू क्या ये उचित न होगा कि मेरा घर एक उत्सव का स्थान बन जाए क्योंकि सांझ छह बजे मुझे हमेशा को विदा हो जाना है घर के लोग कहने लगे परिस्थिति अनुकूल न रही कि अब कोई वीणा बजाए घर के लोग कहने लगे परिस्थिति अनुकूल न रही कि अब कोई बोझ हो लेकिन वो आदमी कहने लगा कि इससे अनुकूल परिस्थिति और क्या होगी जब छह बजे मुझे हमेशा के लिए विदा हो जाना है तो क्या ये उचित न होगा कि विदा होते क्षणों में मैं संगीत सुनूं क्या ये उचित ना होगा कि मित्र उत्सव करें क्या ये उचित ना होगा कि मेरा घर एक उत्सव बन जाए कि जाते क्षण में मेरे याद मेरी स्मृति में हमेशा वे वे थोड़े से पल टके हुए रह जाएं जो मैंने अंतिम क्षण में विदाई के क्षण में अनुभव किए थे और उस घर में वीणा बसती रही और उस घर में भोजन चलता रहा यद्यपि लोग उदास थे संगीतज्ञ उदास था लेकिन वो वजीर खुश था वो प्रसन्न था राजा को खबर मिली राजा देखने आया कि वो वजीर पागल तो नहीं और जब वो पहुंचा तो घर में वीणा बसती थी और मेहमान इकट्ठे थे और राजा जब भीतर गया तो वजीर खुद भी आनंद मग्न बैठा था तो उस राजा ने पूछा तुम पागल हो गए हो खबर नहीं मिली कि छह बजे सांझ मौत तुम्हारी आ रही उसने कहा खबर मिल गई इसलिए आनंद के उत्सव को हमने तीव्र कर दिया है उसे शिथिल करने का तो सवाल न था क्योंकि छह बजे मैं विदा हो जाऊंगा तो छह बजे तक हमने आनंद के उत्सव को तीव्र कर दिया है क्योंकि यह अंतिम विदा के क्षण स्मरण रह जाए राजा ने कहा ऐसे आदमी को फांसी देना व्यर्थ है जो आदमी जीना जानता है उसे मरने की सजा नहीं दी जा सकती है उसने कहा मैं वापस ले लेता हूं ऐसे प्यारे आदमी को अपने हाथों से मारूं ये ठीक नहीं जीवन में क्या अवसर है क्या परिस्थिति है ये इस बात पर निर्भर नहीं होता कि परिस्थिति क्या है ये इस बात पर निर्भर होता है कि हम उस परिस्थिति को किस भांति लेते हैं किस एटीट्यूड में किस दृष्टि से तो मुझे ज्ञात नहीं होता कि कोई भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है जो आपके जीवन में प्रभु की तरफ जाने से आपको रोकती हो आप ही अपने को रोकना चाहते हो तो बात दूसरी है तब हर परिस्थिति रोक सकती है और आप ही अपने को न रोकना चाहते हो तो कोई ऐसी परिस्थिति न कभी थी और न कभी हो सकती है थोड़ा ध्यान से अपनी दृष्टि को देखने की कोशिश आप करना परिस्थिति पर दोष मत देगा थोड़ा ध्यान करना इस बात पर कि मेरा दृष्टिकोण परिस्थिति को समझने की मेरी वृत्ति मेरी अप्रोच मेरी पहुंच तो कहीं गलत नहीं है कहीं मैं गलत ढंग से तो चीजों को नहीं ले रहा हूं एक घटना मुझे और स्मरण आती है कोरिया में एक भिक्षुणी एक भिक्षुणी स्त्री एक सन्यासिनी एक रात एक गांव में भटकी हुई पहुंची रास्ता भटक गई है और जिस गांव पहुंचना चाहती थी वहां न पहुंच के दूसरे गांव पहुंच गई उसने जाके एक द्वार पर दरवाजा खटखटाया आधी रात है दरवाजा खुला लेकिन उस गांव के लोग दूसरे धर्म को मानते थे वो भिक्षुणी दूसरे धर्म की थी वो दरवाजे के मालिक ने दरवाजा बंद कर लिया और कहा देवी ये द्वार तुम्हारे लिए नहीं हम इस धर्म को नहीं मानते तुम कहीं और खोज कर लो और उसने चलते वक्त ये भी कहा कि इस गांव में शायद ही कोई दरवाजा तुम्हारे लिए खुले क्योंकि इस गांव के धर्म इस गांव के लोग दूसरे ही धर्म को मानते हैं और हम तुम्हारे धर्म के शत्रु हैं आप तो जानते ही हैं धर्म धर्म आपस में बड़े शत्रु हैं एक गांव का अलग धर्म है दूसरे गांव का अलग धर्म है एक धर्म वाले को दूसरे धर्म वाले के यहाँ कोई शरण नहीं कोई आशा नहीं कोई प्रेम नहीं द्वार बंद हो जाते द्वार बंद हो गए उस गांव में उसने दो चार दरवाजे खटखटाए लेकिन दरवाजे बंद हो गए सर्द रात है अंधेरी रात है वो अकेली स्त्री है वो कहा जाएगी लेकिन धार्मिक लोग इस तरह की बातें कभी नहीं सोचते हैं धार्मिक लोगों ने मनुष्यता जैसी बात कभी सोची ही नहीं वे हमेशा सोचते हैं हिंदू है या मुसलमान बौद्ध है या जैन आदमी का सीधा कोई मूल्य उनकी दृष्टि में कभी नहीं रहा वो स्त्री उस गांव को छोड़ देना पड़ा आधी रात वो जाके गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे सो गई कोई दो घंटे बाद ठंड के कारण उसकी नींद खुली उसने आंख खोली ऊपर आकाश तारों से भरा है उस वृक्ष पर फूल खिल गए हैं रात के खिलने वाले फूल उनकी सुगंध चारों तरफ फैल रही है वृक्ष के फूल चिटक रहे हैं आवाज आ रही है और फूल खिलते चले जा रहे हैं वो आधा घड़ी तक मौन उस फूल को उन वृक्ष के फूलों को खिलते देखती रही आकाश के तारों को देखती रही फिर दौड़ी गांव की तरफ फिर जाके उसने उन दरवाजों को खटखटाया जिन दरवाजों को उनके मालिकों ने बंद कर लिया था आधी रात फिर कौन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 थोड़े हट जाएं क्योंकि लेट ना पड़ेगा इसलिए हट जाएं बातचीत बिल्कुल भी ना करें क्योंकि बातचीत से कोई संबंध नहीं है जरा भी बातचीत नहीं किसी को भी बाधा ना हो अपनी अपनी जगह बना लें कहीं भी हट जाएं।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 शुरू होती है जो माँ के साथ संयुक्त और इकट्ठा था वो पृथक हो जाता है शायद उसी पृथकता से ये भ्रम पैदा होता है कि शरीर अलग हो गया इसलिए प्राण भी अलग हो गए होंगे शायद शरीर अलग हो गया इसलिए भीतर के जीवन में भी भेद पड़ गया होगा मां के शरीर से बच्चे का शरीर अलग होता है लेकिन आत्मा एक और अपृथक है समस्त जीवन से वहां कोई भेद नहीं है वहां कोई भिन्नता नहीं लेकिन उस अभेद का उस अद्वैत का हमें कोई अनुभव नहीं होता है कोई स्मरण नहीं होता है कोई बोध नहीं होता है मनुष्य के जीवन में यही एक दुर्भाग्य है इस दुर्भाग्य को ही पार कर जाना साधक के लिए दूसरा चरण है पहले चरण में मैंने आपसे कहा ज्ञान मिथ्या है ज्ञान असत्य है सीखे हुए शब्द और सिद्धांत और शास्त्रों से ज्यादा नहीं अज्ञान इग्नोरेंस मनुष्य की वस्तु स्थिति है अज्ञान को जो स्वीकार कर लेता है और ये स्मरण से भर जाता है कि मैं नहीं जानता हूँ जीवन और उसके बीच की पहली दीवार गिर जाती है लेकिन एक दूसरी दीवार भी है उसके संबंध में ही आज सुबह मुझे आपसे बात करनी है वो भी गिर जानी चाहिए तो ही व्यक्ति परमात्मा के सत्य को अनुभव कर सकता है जो परमात्मा का सत्य है वही स्वयं का सत्य भी है उसे कोई जीवन कहे उसे कोई मोक्ष कहे उसे कोई ईश्वर कहे इससे कोई भी भेद कोई भी फर्क नहीं पड़ता है दूसरे दुर्भाग्य की दीवार पहले दुर्भाग्य की दीवार ज्ञान की दीवार है दूसरे दुर्भाग्य की दीवान क्या है जो भी जिया जा सकता है जो भी जाना जा सकता है उसके साथ एक हो जाना अनिवार्य है एक छोटी सी घटना से मैं समझाने की कोशिश करूं कोई डेढ़ हजार वर्ष पहले चीन के एक सम्राट ने सारे राज्य के चित्रकारों को खबर की कि वो राज्य की मोहर बनाना चाहता है मोहर पर एक बांग देता हुआ बोलता हुआ मुर्गा उसका चित्र बनाना चाहता है जो चित्रकार सबसे जीवंत चित्र बना के ला सकेगा वो पुरस्कृत भी होगा राज्य का कला गुरु भी नियुक्त हो जाएगा और बड़े पुरस्कार की घोषणा की गई देश के दूर दूर कोनों से श्रेष्ठतम चित्रकार बोलते हुए मुर्गे के चित्र बना के राजधानी में उपस्थित हुए लेकिन कौन तय करेगा कि कौन सा चित्र सुंदर है हजारों चित्र आए थे राजधानी में एक बूढ़ा कलाकार था सम्राट ने उसे बुलाया कि वो चुनाव करे कौन सा चित्र श्रेष्ठतम बना है वही राज्य की मोहर बन जाएगा उस चित्रकार ने उन हजारों चित्रों को एक बड़े भवन में बंद कर लिया और स्वयं भी उस भवन के भीतर बंद हो गया सांझ होते होते उसने खबर दी कि एक भी चित्र ठीक नहीं बना है सभी चित्र गड़बड़े एक से एक सुंदर चित्र आए थे सम्राट स्वयं देख के दंग रह गया था लेकिन उस बूढ़े चित्रकार ने कहा कोई भी चित्र योग्य नहीं राजा हैरान हुआ उसने कहा तुम्हारे मापदंड क्या है तुमने किस भांति जांचा कि चित्र ठीक नहीं उसने कहा मापदंड एक ही हो सकता था और वो ये कि मैं चित्रों के पास एक जिंदा मुर्गे को ले गया और उस मुर्गे ने उन चित्रों के मुर्गों को पहचाना भी नहीं फिक्र भी नहीं की चिंता भी नहीं की अगर वे मुर्गे जीवंत होते चित्रों में तो वो मुर्गा घबराता या बांध देता या भागता या लड़ने को तैयार हो जाता लेकिन उसने बिल्कुल उपेक्षा की उसने चित्रों की तरफ देखा भी नहीं बस एक ही क्राइटेरियन एक ही मापदंड हो सकता था वो मैंने प्रयोग किया कोई भी चित्र मुर्गे स्वीकार नहीं करते हैं कि चित्र मुर्गों के हैं सम्राट ने कहा ये तो बड़ी मुसीबत हो गई ये मैंने सोचा भी नहीं था कि मुर्गों से परीक्षा करवाई जाएगी चित्रों की लेकिन उस बूढ़े कला गुरु ने कहा कि मुर्गों के सिवा कौन पहचान सकता है कि चित्र मुर्गे का है या नहीं राजा ने कहा फिर अब तुम ही चित्र बनाओ उस बूढ़े ने कहा बड़ी कठिन बात है इस बुढ़ापे में मुर्गे का चित्र बनाना बहुत कठिन बात है सम्राट ने कहा तुम इतने बड़े कलाकार मुर्गे का चित्र नहीं बना सकोगे उस बूढ़े ने कहा मुर्गे का चित्र तो बहुत जल्दी बन जाए लेकिन मुझे मुर्गा होना पड़ेगा उसके पहले चित्र बनाना बहुत कठिन राजा ने कहा कुछ भी करो उस बूढ़े ने कहा कम से कम तीन वर्ष लग जाए पता नहीं मैं जीवित बचू या न बचू उसे तीन वर्ष के लिए राजधानी की तरफ से व्यवस्था कर दी गई और वो बूढ़ा जंगल में चला गया छह महीने बाद राजा ने लोगों को भेजा कि पता लगाओ उस पागल का क्या हुआ वो क्या कर रहा है लोग गए वो बूढ़ा जंगली मुर्गों के पास बैठा हुआ था एक वर्ष बीत गया फिर लोग भेजे गए पहली बार जब लोग गए थे तब तो उस बूढ़े चित्रकार ने उन्हें पहचान भी लिया था कि वो उसके मित्र हैं और राजधानी से आए हैं जब दोबारा वो लोग गए तो वो बूढ़ा करीब करीब मुर्गा हो चुका था उसने फिक्र भी नहीं की उनकी तरफ देखा भी नहीं वो मुर्गों के पास ही बैठा था दो वर्ष बीत गए तीन वर्ष पूरे हो गए राजा ने लोग भेजे कि अब उस चित्रकार को बुला लाओ चित्र बन गया हो तो जब वे गए तो उन्होंने देखा कि वो बूढ़ा तो एक मुर्गा हो चुका वो मुर्गे जैसी आवाज कर रहा है वो मुर्गों के बीच बैठा हुआ मुर्गे उसके आसपास बैठे हुए वे उस बूढ़े को उठा के लाए राजधानी में पहुंचा दरबार में पहुंचा राजा ने कहा चित्र कहाँ है उसने मुर्गे की आवाज की राजा ने कहा पागल मुझे मुर्गा नहीं चाहिए मुझे मुर्गा का चित्र चाहिए तुम मुर्गे होके आ गए हो चित्र कहाँ है उस बूढ़े ने कहा चित्र तो अभी बन जाएगा सामान बुला लेने चित्र बना दो और उसने घड़ी भर में चित्र बना दिया और जब मुर्गे कमरे के भीतर लाए गए तो उस चित्र को देख के मुर्गे डर गए और कमरे के बाहर भागे राजा ने कहा क्या जादू किया है इस चित्र में तुमने उस बूढ़े ने कहा पहले मुझे मुर्गा हो जाना जरूरी था तभी मैं मुर्गे को निर्मित कर सकता था मुझे मुर्गे को भीतर से जानना पड़ा कि वो क्या होता है और जब तक मैं आत्मसात न हो जाऊं मुर्गे के साथ एक न हो जाऊं तब तक कैसे जान सकता हूं कि मुर्गा भीतर से क्या है उसकी आत्मा क्या है आत्मैक्य के बिना जीवन के साथ एक हुए बिना जीवन के प्राण को जीवन की आत्मा को भी नहीं जाना जा सकता जीवन का प्राण ही प्रभु है वही सत्य है जीवन के साथ एक हुए बिना कोई रास्ता नहीं है कि कोई जीवन को जान सके और जिसे हम जानते नहीं उसे हम जी भी कह सकते इसीलिए तो हम सिर्फ नाम मात्र को जीवित मालूम होते नाम मात्र को इसीलिए तो हम मृत्यु से भयभीत प्रतीत होते हैं क्योंकि जो व्यक्ति एक बार जीवन के स्वाद को चख लेगा उसके लिए मृत्यु बचती ही नहीं उसके लिए कोई मृत्यु नहीं रह जाती मृत्यु का भय इस बात की खबर है कि हमें जीवन का कोई भी पता नहीं जीवन का पता होगा भी नहीं हमने जीवन के साथ कभी एकता एक तांता नहीं साधी कभी हम लयबद्ध नहीं हुए ये कैसे टूट गई है लय ये संगीत हमारा विच्छिन्न कैसे हो गया जीवन के और हमारे बीच ये दरार ये खाई कैसे पैदा हो गई इसे समझ लेना जरूरी है तो शायद ये खाई इसी क्षण पूरी भी की जा सकती है ये खाई पैदा हो गई है मनुष्य जाति में आज तक मनुष्य को समझाने वाले कुछ ऐसे लोगों के कारण जिन्होंने जीवन की निंदा की है जीवन का विरोध किया है जीवन को असार कहा है जीवन को दुख कहा है जीवन को छोड़ देने योग्य कहा है जीवन से मुक्त हो जाने के लिए कहा है जिन लोगों ने भी जिन शिक्षाओं ने भी जीवन की निंदा की है जीवन का कंडेमनेशन किया है उन शिक्षाओं ने ही मनुष्य और जीवन के बीच एक खाई खड़ी कर दी है जिसकी निंदा हो जिसका विरोध हो जो असार हो व्यर्थ हो उसके साथ संबंधित होने का मार्ग कहां रह जाता है और हमने जीवन की सब भांति निंदा की है शरीर की निंदा की है क्योंकि शरीर जीवन का प्रकट रूप है संसार की निंदा की है क्योंकि संसार परमात्मा का प्रकट रूप है पदार्थ की निंदा की है क्योंकि पदार्थ प्राण का प्रकट रूप है जो भी प्रकट है उस सब की हमने निंदा की है और अप्रगट की प्रशंसा की अब प्रगट पर न मुट्ठी बांधी जा सकती न अप्रगट को छुआ जा सकता है न अप्रगट को देखा जा सकता है अदृश्य की तो केवल बातें की जा सकती हैं दिखाई तो पड़ता है दृश्य अरूप की तो केवल चर्चा हो सकती है पकड़ में तो आता है रूप और रूप की आकार की दृश्य की निंदा की गई है स्वभावतः अरूप की सिर्फ चर्चा रह गई हमारे हाथों में और स्मरण रहे कि रूप को जो जान ले वो अरूप से परिचित हो सकता है जो पदार्थ को जान ले वो अपदार्थ से परिचित हो सकता है जो शरीर को पहचान ले वो आत्मा से भी संबंधित हो सकता है लेकिन जो रूप का ही विरोध कर दे वो अरूप तक जाने की अपनी सीढ़ी ही तोड़ देता है इसका उसे कुछ पता ही नहीं लेकिन रूप की और आकार की और जीवन की पदार्थ की और शरीर की और संसार की इतनी निंदा की गई है इतना विरोध किया गया है इतनी घृणा जाहिर की गई है जिसका कोई हिसाब लगाना आज कठिन है खास जीवन की इतनी प्रशंसा की गई हो खास इतने लोगों ने जीवन के आनंद के गीत गाए होते खास इतने मुखों से इतनी वाणियों से जीवन की गरिमा और गौरव अभिव्यक्त हुआ होता है तो आज पृथ्वी दूसरी होती आज पृथ्वी धर्म से भरी होती आज जीवन आनंद से भरा होता आज जीवन एक संगीत बन गया होता लेकिन मनुष्य जाति के अब तक के शिक्षकों ने जीवन की निंदा की है विरोध किया है ये जो विरोध है ये जो जीवन की बुनियादी रूप से निंदा है कंडमनेशन है उसने हमारे और जीवन के बीच अगर एक दीवाल खड़ी कर दी हो तो बिल्कुल स्वाभाविक है धर्म के विचार करते ही ये ख्याल आना शुरू हो जाता है कि जीवन व्यर्थ है जीवन छोड़ देना है जीवन से हट जाना है जीवन से मुक्त हो जाना है आवागमन से मुक्त हो जाना है धर्म का चिंतन ही कुछ मरणोन्मुखी कुछ सुसाइडल कुछ आत्महत्यावादी कुछ जीवन निषेध का बन गया है जीवन के आनंद में सम्मिलित होने का आमंत्रण नहीं मालूम होता धर्म जीवन पर आंख बंद कर लेने का जीवन से हट जाने का उदासीन हो जाने का निमंत्रण मालूम होता है और जब हम चित्त से उदासीन हो और चित्त से आसार समझे और चित्त हमारा ये कहे कि सब व्यर्थ है और हम जन्मे ये हमारे पापों का कारण है और जिस दिन हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे उस दिन हमारे जन्म का भी कोई कारण न रह जाएगा हम मोक्ष में उस जगह जहाँ कोई जन्म नहीं कोई मृत्यु नहीं जहाँ कोई देह नहीं जहाँ कोई इंद्रिया नहीं जहाँ कोई रूप नहीं उस अरूप में प्रविष्ट हो जाएंगे ये जो भाव दशा हो तो फिर जीवन की इस वृहत लीला से संबंधित नहीं हुआ जा सकता है ये बात सबसे पहले समझ लेने जैसी है कि मनुष्य को अधार्मिक बनाने वाले लोग वे लोग नहीं है जिन्होंने ईश्वर को इंकार किया है वे लोग भी नहीं जिन्होंने आत्मा को अस्वीकार किया है बल्कि वे लोग जिन्होंने रूप का खंडन किया है और निंदा की है और जीवन की प्रगट अभिव्यक्ति को असार कहा है एक स्मरण मुझे आता है एक मित्र एक सन्यासी मेरे पास कुछ दिन मेहमान थे आते ही मेरे आसपास जो बड़ी बगिया थी जिसमें बहुत फूल थे आते ही उन्होंने फूलों को ऐसे देखा जैसे कोई शत्रु को देखता हो और उन्होंने मुझसे कहा आपको भी फूलों से प्रेम है आपको भी फूलों से कोई लगाव है मैं चुप रह गया क्योंकि जो फूलों को भी न समझ पा रहा हो वो फूलों की प्रशंसा में कहीं किसी बात को समझ पाएगा इसकी कोई आशा नहीं थी फिर रात हुई और एक मित्र कुछ गीत सुनाने आए थे तो मैं गीत सुनने बैठ गया उन सन्यासी ने कहा आपको गीतों से भी लगाव है गीतों से भी प्रेम है मैं फिर हंसा और चुप रह गया क्योंकि जो गीत ही न समझ पा रहा हो गीत की प्रशंसा में कही गई बात को समझ सकेगा इसकी कोई आशा न थी फिर रात हम खाना खाने बैठे वे इस भांति खाना खाने लगे जैसे कोई एक बोझ भरा काम कर रहा हो कोई एक जबरदस्ती कोई एक नेसेसरी इविल कोई एक आवश्यक बुराई है जो करनी पड़ रही है मजबूरी है कि भोजन खाना पड़ रहा है वैसे वे भोजन करने लगे मैंने उनसे कहा आप ये क्या कर रहे हैं उनका मैं अस्वाद का व्रति हूं अस्वाद का व्रत लिया हुआ है भोजन ऐसे करना है जिससे कोई मिट्टी खा रहा हो कोई स्वाद नहीं लेना है मैंने कहा यह तो मैं समझ गया था जब फूलों को देखकर आपके हृदय में जो भाव उठा जब गीत को सुनकर जो भाव उठा तभी मैं समझ गया था क्योंकि अगर हम ठीक से देखें तो फूल आंख का आहार है और गीत और संगीत कान का आहार है सब भोजन है जीवन चारों तरफ एक भोजन है एक आहार आंख जब हरे वृक्ष को देखकर आनंदित होती है तो आंख को भोजन मिल गया और कान जब वीणा को सुनकर प्रफुल्लित हो उठते हैं तो उन्हें भी भोजन मिल गया 24 घंटे सभी इंद्रियों से आहार चल रहा है परमात्मा बहुत द्वारों से प्रवेश पा रहा है परमात्मा के ये सभी प्रवेश आनंद से ग्रहित हो स्वागत से अनुग्रह से